और उसने सूरज और चांद को तुम्हारे लिए काम में लगा दिया दोनों लगातार गर्दिश कर रहे हैं और रात और दिन को तुम्हारे लिए काम में लगा दिया